करने के लिए गए महाराज दोनों स्नान करने लगे पूछने वाले सज्जन भी और बताने वाले सज्जन भी जब पूछने वाले सज्जन ने डुबकी लगाई पानी में पानी में तो महात्मा जी उनके ऊपर चढ़ गए अब महाराज एक मिनट और सांस कितनी देर तक सांस पानी में रोके एक मिनट दो मिनट महाराज मरते मरते बड़े जोर से उछले और महात्मा जी को एक बार एक और फेंक के और पानी में अरे महाराज तुमने तो हमको मार ही डाला था एक मिनट और रुक जाते तो बस मर जाते वो हंसने लगे तो बोले भाई तुम्हें पानी में डूबते समय बाहर निकलने के लिए कैसी इच्छा कैसी इच्छा थी कैसी तीव्र इच्छा थी कि डूबते हुए से पानी में से डूबते हुए पानी में निकल जाएगा बस इस भव सागर में जो डूब रहे हैं उनके को इसके बाहर भगवान से मिलने के लिए वैसी इच्छा होनी चाहिए जैसी तुम्हारी इच्छा पानी में से बाहर निकलने के लिए तीव्र इच्छा असल में मनुष्य का जीवन इच्छा से ही आगे बढ़ता है ये शरीर तो मोटर गाड़ी है इच्छा ही ड्राइवर है हो आप जहां पहुंचना चाहेंगे ये इच्छा जहां पहुंचने की इच्छा करेंगे ये इच्छा आपके जीवन को वहां पहुंचा दे आप सत्संग में कैसे आते हैं घर में बैठे होते हैं यहाँ आने की इच्छा होती है और इच्छा प्रयत्न उत्पन्न कर देती है और आप यहाँ आ जाते हैं जाना थी थी करो थी ये दर्शन शास्त्र का सत्य है कि पहले जानकारी होती है सत्संग में चलना अच्छा है फिर इच्छा होती है वहां चलना चाहिए जानकारी इच्छा और फिर चल पड़ते हैं आपकी इस मोटर को चालू करने वाला कौन है यही इच्छा ही चालू करती है आपके मन में कहा जाने की इच्छा होती है आप कहा जाना चाहते हैं है कुछ कस्मय देवाय हविषा विधेमा आप किसके लिए जी रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं आप रुपए के लिए नहीं जी रहे हो रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं जी रहे हैं रुपया भी तो किसी काम में लगाने के लिए इकट्ठा होता है ना तो उसको किस काम में लगाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं आप अपनी इच्छा का पोस्टमार्टम तो कर लीजिए हैं <clears throat> आदमी जब मरता है ना कभी कभी डॉक्टर लोग शंका होती है तो पोस्टमार्टम करते हैं इसकी मौत कैसे हुई कौन सा जहर इसने पिया था कि मर गया तो आप आप अपनी इच्छा को देखिए वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाना चाहती है तो बाबा अभी तो मेरे मन में ईश्वर की ओर जाने की इच्छा नहीं है हो जाए तो बहुत अच्छा इसके लिए एक तो आप बार बार बार बार बार बार ईश्वर का नाम लीजिए जिसको नहीं बोलते हैं वो अभ्यास जिस चीज को आप पाना चाहते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं बारंबार अपने मन में उसका नाम आवे उसकी शक्ल आवे उससे मिलने का ख्याल होकर मजा आवे उसके वियोग का ख्याल होकर उसके बिछोड़ने का ख्याल होके दुख पाए आप अपनी इच्छा यदि बनाना चाहते हैं तो बार बार उसकी याद कीजिए वो बैठ जाएगा आपके मन में बैठ जाएगा और आप चाहते हैं दूसरे को और नाम लेते हैं दूसरे को ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं चाहते हैं अपनी चहेती और नाम लेते हैं भगवान तो इच्छा अलग और नाम अलग अब बेचारे नाम को पहले इच्छा बनानी पड़ेगी तो तब अपना काम करेगा ऐसा एक दूसरी बात है इसमें महिमक ख्याति उसको बोलते हैं आप किसके लिए जीते हैं जिसके लिए जीते हैं आप उसकी महिमा बढ़ा रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं कि उसकी उपेक्षा कर रहे हैं जब रामचंद्र भगवान साकेत धाम में जाने लगे ऐसा आधिदैविक है वो देखो आधिदैविक रूप से तो भगवान रामचंद्र ने सरजू में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ा इसका नाम आधिदैविक है साकेत लोक में गए इसका नाम आधिभौतिक है सरजू में प्रवेश करके शरीर छोड़ा इसका नाम आधिभौतिक साकेत धाम में गए इसका नाम आधिदैविक है और अपने स्वरूप भूत ब्रह्म में स्थिर हो गए शरीर टूट गया इसका नाम हुआ आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तीन ओर से वर्णन होता है तो जब निश्चय हो गया कि अब ये शरीर बस हो गया इसका काम पूरा उन्होंने हनुमान जी को बुलाया बोले हनुमान तुम भी मेरे साथ चलो हनुमान जी बोले कि ना महाराज मैं तो आपके साथ नहीं जाऊं तो क्यों तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो बोले मैं तो धरती पर रहूंगा और जब तक आपकी कथा सुनने को मिलेगी जा, जावत सव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामी मे दिन्याम तवाज्ञा अनुपाल आप जाइए साकेत धाम में या ब्रह्म रूप से रहिए जब तक आपकी चर्चा आपकी कथा आपका चरित्र सुनने को धरती में मिलेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा आपकी महिमा बढ़े हम आपकी महिमा आपके बाद भी बनी रहे और लोग आपकी महिमा गावे इसके लिए मैं रहूंगा और आपके दर्शन का जो आनंद है वो तो आपकी कथा सुनने से हमको आवेगा ऐसे हो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम् नमत राक्षतान्तकम् मारुतिम नमत राक्षतान्तकम् जहां जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है शरीर में रोमांच होता रहता है राम का साक्षात्कार होता रहता है बास परिपूर्ण लोचनम तो हनुमान जी ने भगवान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया अपने स्वामी की महिमा बढ़ाना उनका चरित्र उनकी कथा सुनना इसको महिमक ख्याति बोलते हैं ध्रुव जी ने भगवान से प्रार्थना की है या निर्वृति स्तनुभृता तव पाद पद्मध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे नवास्या सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किंस्वंतकाशिदुलितात् पतताम विमानात् महाराज जब आपके भक्त के मुंह से आपकी चर्चा सुनते हैं तो उस समय सारे पर्दे फट जाते हैं सारे आवरण भंग हो जाते हैं सारा अंधकार निवृत्त हो जाता है वो परमानंद वो सुख मिलता है वो तो महाराज ब्रह्म में डूब जाए तब भी नहीं है स्वर्ग में तो होगा ही कहां से है तो जिससे प्रेम होता है उसका नाम सुन के उसकी कथा सुन के उसकी याद होने पर उसके संबंध की कोई वस्तु दिख जाने पर मिलने पर हमारे एक मित्र हैं उनके सामने यदि बाजरा आ जाए ना बाजरा तो कहते हैं कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज को बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती थी बाजरा आया सामने और उड़िया बाबा जी की याद आई हमारे मित्र हैं अब देखो कहाँ उड़िया बाबा जी कहाँ बाजरे की खिचड़ी लेकिन वो अन्नकूट के दिन जब छप्पन प्रकार के भोग बनते थे ना तो उसमें से बाजरे की खिचड़ी खाना पसंद करते थे छप्पन प्रकार के भोग नहीं बाजरा देख के उनकी याद आती देखो आप भगवान के बारे में सोचो आपको कैसे याद आप किस लिए जीते हैं जरा सोचे अपने लिए जीते हैं अपने भोग के लिए जीते हैं अपने कर्म के लिए जीते हैं हाँ, पहरेदारी के लिए जीते हैं अरे बाबा हम नहीं रहेंगे तो लड़के साहब नष्ट कर देंगे हैं? हाँ, अब लड़कों से बचाने के लिए हो हाँ, जिंदा रहे सब बेवकूफ अच्छा। एक बाप है अपने बेटे को बेवकूफ कह के बुलाता ही इसको कोई शहूर नहीं है इतना बड़ा हो गया अब वो कमाता है बेचारा लाखों लड़का लाखों रुपया कमाता है और बाप उसको बेवकूफ ही कह के पुकारता है क्यों जिंदा हो तदर्थ प्राणस्था जब गोपियां श्री कृष्ण के विराह में व्याकुल हुई तो पहले तो ढूंढती रही ढूंढती रही बिल्कुल व्याकुल होते हो पेड़ से पौधे से पूछती थी कि क्या तुमने कृष्ण को देखा है धरती से पूछती थी पशु से पूछती थी पक्षी से पूछती थी तन्मय होके उनकी लीला करने लगी अंत में उनका ख्याल हुआ कि हमारे उपाय से वो नहीं मिलेंगे जब उनका मिलने का मन होगा तब तो इकट्ठी होके गाने लगी है गाने का शौकीन शायद हमारा गाना सुन के आ जाए तो गाते गाते तन्मय हो गई जब तन्मय हो गई तो उनके हृदय में कृष्ण प्रकट हुए और बोले कि अरे गोपियों तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो लेकिन प्रेम में विरह नहीं होता है प्रेम में जब तक कपट होता है तभी तक विरह होता है जब कपट नहीं होता तो विरह भी नहीं होता तो तुम लोग मेरे बिछुड़ जाने पर भी अभी तक जिंदा हो इसका मतलब है कि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है ऐसा गोपी का मन कृष्ण बन के हो गोपी के मन में कृष्ण का आविर्भाव हुआ और उन्होंने ये प्रश्न उठा दिया प्रेमी के मन में ऐसे सवाल पैदा होते हैं हाय हाय मेरे मन में उनसे प्रेम होता तो मैं उनके बिना क्या क्षण भर भी जीवित रह सकता मैं उनके मिले बिना भी जीवित हूँ इसका मतलब है मेरे हृदय में प्रेम नहीं है अब यही जो गोपी का भाव था वो कृष्ण बन करके आया और आक्षेप करने लग गया कैसी प्रेमिका हो तो मेरे बिना जिंदा हो जीवित हो तो एक रूप से गोपी के मन ने कृष्ण बन के आक्षेप किया और दूसरे मन से गोपी का मन गोपी बनकर उत्तर देता है तावका स्वयं धृता सव विचिन्वत देखो हम तुम्हारे हैं कृष्ण अच्छी हैं बुरी हैं जैसी हैं वैसी तुम्हारे हैं और मृत्यु क्या हमारे पास नहीं आती है मृत्यु तो हमारे पास बार बार आती है निकल जाने को मृत्यु तो बहुत बहुत आसान है क्षण क्षण मृत्यु के समान जिंदा रहने से तो मरे तो एक बार मौत आती है और जिंदा रहे तो क्षण क्षण में मृत्यु का कष्ट होता है लेकिन हम मरती नहीं क्यों नहीं मरते हैं का हमने अपना प्राण अपनी इंद्रिय अपना मन निकाल के तुम्हारे अंदर रख दिया है तो ही धृता सवाह तो जब मौत आती है तो हमारे शरीर में हमारे प्राण को हमारे इंद्रिय को हमारे अंतकरण को ढूंढती है पर वो तो यहाँ है नहीं तुम्हारे पास है तो बारंबार मृत्यु निराश हो करके हमारे शरीर में से लौट जाती है कि यहाँ तो गोपी का प्राण नहीं है यहाँ तो गोपी की इंद्रिय नहीं है यहाँ तो गोपी का मन नहीं है देखो त्वी धृता सवाहा स्वाम विचिन्वत है गोपी गीत से आता है हमने अपना मन अपनी इंद्रिय अपने प्राण तुम्हारे अंदर रख दिए हैं हाँ। इसका अर्थ क्या है वृद्धवासी लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा या हम जिंदा रहेंगे तो क्या होगा हमने ये देखा कि हम मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा यदि हम तुम्हारे विरह में ना तुम्हारे लिए घर द्वार छोड़ के आई परिवार छोड़ के आई शरीर का ख्याल छोड़ के आई अपना धर्म छोड़ के आई अंतकरण की शुद्धि मुक्ति की इच्छा सब छोड़ के तुम्हारे लिए आए और तुमने हमारे साथ रात विलास किया हमको स्वीकार किया अब हम तुम्हारे विरह में यदि मर जाएंगे तो ये पक्का है कि तुमको भी तकलीफ होगी हाँ, हाँ। अभी तो तुम बने बनाए छिपे हुए हो छिप जाते हो हमको नहीं मिलते हो लेकिन यदि हम मर जाएं तो हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो हमारे मरने पर तुमको तकलीफ होगी कि नहीं तो हम मरेंगे तो तुमको बहुत तकलीफ होगी तो हम ऐसे सोचते हैं कि तुमको हमारे मरने की तकलीफ न उठानी पड़े हम भले जिंदगी भर घुल घुल के मरेंगी और तुमको ढूंढती रहेंगी लेकिन हमारे मरने का संवाद तुमको सुनने को मिले और फिर तुमको रोना आ जाए तुम व्याकुल हो जाओ हम तुम्हारी तकलीफ नहीं सह सकते वही दृता सभा इसको निमित्त सप्तमी बोलते हैं व्याकरण के अनुसार जैसे चर्मण द्वीपी नाम मेहनती चाम के लिए चाम पाने के लिए चर्म के निमित्त से कोई हाथी मारता है बोले हम तुम्हारे निमित्त से जीवित हैं हमारे मरने जीने का कोई सवाल नहीं है लेकिन तुम्हारे निमित्त से जीवित हैं कि हमारे मरने पर तुमको बहुत तकलीफ होगी ये देखो प्रेम का प्रेम का एक भाव करी गोपियों तुमने ढूंढना बंद क्यों कर दिया जमुना जी के तट पर बालुका में आके चांदनी रात में बैठ गई हो हैं? क्या तुम्हें अपने पाँव में कांटा गड़ जाने का डर था हाँ। कि वन में भटक जाने का डर था कि किसी शेर का सांप का डर था कि क्यों तुम आके यहाँ बैठ गई हो गोपी ने कहा कि नहीं न हमको शेर का डर न सांप का न कांटे का न देरे का और न भटकने का जिंदगी भर तुम्हारे लिए भटकते रहे लेकिन हमने ये सोचा कि यदि हम रात के समय बन बन में कृष्ण को ढूंढते रहेंगे और वो छिपते रहेंगे तो हम तो वन में चल लेंगी लेकिन हमारी वजह से उनको भी तो वन में इधर उधर चलना पड़ेगा साफ है वो ये बात गोपी गीत में साफ है जो पढ़े पढ़ यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेशु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसी तद्व्यथतेन किंचित पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम हमारी जिंदगी तो तुम हो हमारी आयु तुम हो भवदायुषाम ना हमारे जीवन प्राण सर्वस्व तुम हो हमें ये ख्याल होता है हम तुम्हें ढूंढती रहेंगी रात के समय तुम वन में भटकते रहोगे और तुम्हारे चरण कमल तुम्हारे तलवे इतने सुकुमार कभी जब हम अपनी छाती पर तुम्हारे तलवे को रखती हैं तो हमको डर लगता है कि हमारी छाती कठोर और तुम्हारे पांव कोमल हमारी छाती तुम्हारे पांव में गड़ जाएगी तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और उन्हीं पाओ से तुम रात के समय बन बन में भटकते फिरते हो तो देखो ये ये है प्रेम प्रेम अपना जीवन नहीं देखता अपना होश नहीं देखता प्रेम अपना सुख नहीं देखता आप क्यों आप देखिए भगवान के प्रेमी हैं सदर्थ प्राण स्थान भगवान के लिए ही कि आप जिंदा हैं ये भक्त का ये भक्त का भाव है इसको बोलते हैं महाभाव प्रेम की भाषा में प्रेम शास्त्र में इसका नाम महाभाव रखा हुआ है प्रियतम को सुख पहुंचाने की नीयत से भी उसकी सेवा करने के लिए प्रयास करने पर भी कहीं हमारी सेवा से उसको कष्ट न पहुंच जाए हमारा गला कट जाए परंतु उसका बाल बाका न हो प्रेम अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख के लिए नहीं होता है अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए प्रेम होता है और सदीयता सदीयता माने ये होता है ये हमारा घर ये हमारी मोटर ये हमारे भाई बंधु ये हमारे पुत्र ये हमारे पत्नी पति ये सब ये सब तुम्हारे हैं मैं तुम्हारा ददाति प्रतिग्रहणाति नान्य थी शास्त्र सिद्ध थी दुर्गा पाठ में हो अष्टम्याम व चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसः ददाते आते अन्य पैसा प्रसिद्ध थे अपने पास जो कुछ है वो देवी के चरणों में अर्पित कर दो दुर्गा पाठ में से और फिर उनके प्रसाद के रूप में स्वीकार करो ये मेरा नहीं है ये तुम्हारा है आप देखो दो मित्र थे बड़ा प्रेम था दोनों दोनों का दोनों के घर में आना जाना मिलना मिलना एक दिन दोनों में से एक मित्र को कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ी तो दूसरे मित्र के घर में गया तो मित्र नहीं था पत्नी थी पूछा तिजोरी की चाबी है कहाँ है जो पत्नी ने दे दिया समझती थी कि तो मित्र है गए तिजोरी खोली उसमें से थोड़े से रुपए निकाले तिजोरी बंद की चाबी दे दी और जाते समय कह दिया कि हम इतने रुपए लेके जा रहे मित्र आया जिसका घर था पत्नी ने कहा तुम्हारे मित्र आए थे तिजोरी खोली इतने रुपए ले गए तो उन्होंने कहा कि तिजोरी तुमने खोली कि उन्होंने तो उन्होंने खोली तो तब तुमको गिनती कैसे मालूम हुई तो बता गए तब उनकी आंख से आंसू गिरने रोने सुखी हो पत्नी ने कहा तुम्हारे इतने मित्र हैं थोड़े से रुपए ले गए तो इसमें दुखी होने की क्या बात है उसने कहा मैं इसलिए नहीं दुखी हो रहा हूं कि वो थोड़े से रुपए ले गए तो क्यों दुखी हो रहे तो जैसे मैं घर में से रुपया निकाल के ले जाता हूं तो तुमसे कहता थोड़े हूं कि मैं कितना रुपया ले जा रहा हूं उन्होंने इस घर को अपना घर नहीं समझा इस कारण मुझे रोना आ रहा है कि उन्होंने इस घर को अपना घर नहीं समझा अब आप सोचो ईश्वर आपका मित्र है हाँ, और आपके घर में से उसी का तो है आपके घर में हाँ। बोला भाई इस दुकान में नहीं उस दुकान में भेज दो है? अब ये तुम्हारी देखभाल में नहीं उनकी देखभाल में रहेगा बोले बाबा मुनीम बदल गया या दुकान बदल गई यहाँ से वहां भेज दिया वही मालिक उसी का माल तुमको रोना क्यों आता है इसलिए कि ईश्वर से मैत्री नहीं है बोला यदि आप ईश्वर को अपना मित्र समझते तो है बाबा तुम्हारा माल हाँ, हमको मुनीम बना के रखो यहाँ रखो चाहे वहां रखो और चाहे माल को इस दुकान में रखो चाहे उस दुकान में रखो तुम तो मालिक हो हम मोकलपुर के बाबा के पास गए छोटे ही थे अठारह बरस के होंगे सत्रह अठारह के मैंने कहा बाबा हमको भगवान की शरण में कर दो हमारा आत्मसमर्पण करा दो हमारा संबंध जोड़ दो भगवान उनका बना दो वो बोले गुरु हमको गुरु हमको क्या सभी को गुरु बोले गुरु तुम कल आना और हमको बताना कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वर की नहीं है यदि तुम दिखा दोगे कि ये चीज ईश्वर की नहीं है तो मैं उसको समर्पित संकल्प लेके हो हाथ में लेना जल और अक्षत और कुछ और समर्पण कर देना कि राम भगवते वासुदेवाय न मामा ये भगवान वासुदेव के लिए है मेरा नहीं मेरे लिए नहीं अब महाराज मैं वहां से जो चला तो गंगा जी का किनारा था बैठ तो के सोचने लगा कि अच्छा क्या चल के बाबा को बताऊं कि ये भगवान का नहीं है तो धरती भगवान की है पृथ्वी सारी भगवान की है कि नहीं अच्छा समुद्र और जल सारा भगवान का है कि नहीं और सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये सब भगवान का है कि नहीं ये हवा जो चलती है भगवान की है कि नहीं आसमान भगवान का है कि नहीं और इन्हीं से बना हुआ अपना शरीर है तो जब सोने की खान भगवान की तो सोने से बना जेवर किसका तो ऐसे ही है अच्छा तत्व भगवान का नहीं कि है कि नहीं अहंकार तत्व भगवान का है कि नहीं पंच तन्मात्रा भगवान की है कि नहीं प्रकृति भगवान की है कि नहीं माया भगवान की है कि नहीं माया को तो बड़े जोर से भगवान मम बोलते हैं वो दैवी ये भगवती मम माया दुरत्या पहले से ही भगवान कबूल करते हैं कि माया मेरी है तब अब मैं सोचने लगा कि क्या है ऐसी क्या चीज है जो मैं भगवान को अर्पित करूं भगवान की नहीं है आ, सोचते सोचते महाराज दिन बीत गया रात बीत गई कोई चीज नहीं मिली तब उनके पास गया बोला महाराज नहीं मिली बोले कि देखो ये चीज भगवान की नहीं है मेरे दुश्मन की है ये चीज भगवान की नहीं है मेरी है कि ये मेरे मित्र की है ये मेरे बाप दादा की है यही भ्रम है ऋषि इसी का नाम भ्रम असमर्पित की भावना जो है ये भ्रांति है कौन सी ऐसी वस्तु है जो ईश्वर की नहीं है ब्रह्म है ब्रह्म देखो समर्पण संकल्प नहीं है समर्पण क्रिया नहीं है समर्पण अनुग्रह नहीं है समर्पण एक ज्ञान है जानो श्री जामुनाचार्य जी महाराज ने कहा ममनाथ हम सकलम तद्धिस्तवैव माधव नियत स्वमिति प्रबुद्धधी अथवा किम समर्पयामि ते जिसको मैं मेरा कहता हूं स्वामी और जो कुछ मैं अपने को मैं कहता हूं कि मैं बोलता हूं ये मेरा और ये मैं सकलम तद्धितव माधव हे माया स्वामी हे लक्ष्मी पते हे लक्ष्मी रमण वो सब तुम्हारा ही है नियत स्वमित प्रबुद्धि जाग गया मैं अज्ञान की निद्रा में प्रांति की निद्रा में सो रहा जाग गया अब ये कि तुम्हारा ही इसके ऊपर नियत स्व है इसके मालिक तुम हो इसके स्वामी तुम हो इसके अंतर्यामी तुम हो जाग गया जाग गया अथवा किम समर्पया ते अब तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं तदीयता इसको बोलते हैं तदीयता सम्मान बहुमान प्रीति विरह इतर विचिकित्सा महिमक ख्याति तदर्थ प्राण स्थान तदीयता संपूर्ण जगत भगवान का आपको तो अद्भुत लगेगा श्री रामानुजाचार्य श्री मध्वाचार्य श्री नंबारकाचार्य श्री वल्लभाचार्य ये वैसे तो आपस में मतभेद रखते हैं वेशभूषा सबकी अलग अलग चंदन माला अलग अलग छापा तिलक अलग अलग है हो महाराज सकल सूरत इष्ट देव की किसी के चार भुजा किसी के दो ही भुजा हाँ कोई जुगल कोई अकेले लेकिन इस बारे में सर्वसम्मति है कि ये जीव और जगत परमेश्वर का है जगत जगत का नहीं है ईश्वर का है जीव जीव का नहीं है परमेश्वर का है इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है वो और सच पूछो तो शंकराचार्य का भी इसमें कोई मतभेद नहीं शंकराचार्य की ओर से मैं बोल सकता हूं सब आचार्यों का मत तो मैंने पढ़ा है शंकराचार्य की ओर से तो मैं बोलता हूं ये जीव जगत परमेश्वर का तो मध्वाचार्य कहते हैं ईश्वर ने ये जीव जगत बनाया है उसकी रचना है उसका कर्ता है मालिक है श्री बल्लवाचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर ही जीव जगत बना हुआ है श्री रामानुजाचार्य कहते हैं आ, ये तो विशेषण है वो जैसे हमारे शरीर में तन और मन हमारे विशेषण हैं वैसे ईश्वर के शरीर में जीव और जगत उसके विशेषण हैं निम्बारकाचार्य कहते हैं जीव जगत कार्यावस्था में है और कारणावस्था में परमेश्वर है शंकराचार्य कहते हैं ये ब्रह्म रूप अधिष्ठान में अध्यस्त हैं अच्छा नीलिमा किसकी आकाश की हाँ। क्योंकि आकाश निराकार अधिष्ठान है और उसमें साकार नीलिमा अध्यस्त है परंतु जो जिसमें अध्यस्त होती है वो उससे जुदा बिल्कुल नहीं होती है सांप तो किसका करस्ती का चांदी किसकी कसीब की तो ये संपूर्ण जीव जगत परमेश्वर का है परमेश्वर पदीयता बोलते हैं इसको सब परमेश्वर अब हमारी सावधानी क्या है आप भक्ति की साधना लो सर्व तद्भाव आप फिर से गिन रहे सबका सम्मान करना परमेश्वर की याद दिलाने वाली चीज का बहुमान करना अपने हृदय की प्रीति उड़ेलते रहना जब भगवान का विस्मरण हो तो विरह की व्याकुलता आ जाए भगवान के सिवाय दूसरे से कुछ लेना नहीं देना नहीं उनकी महिमा का गान हमेशा होता रहे वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया जीव मिली है भगवान का गुणानुवाद गाने के लिए कान मिला है सुनने के लिए गोस्वामी जी का आपने सुना है ना रसना सापिनी बदन बिल जिन जपई हरिनाम अगर आप भगवान का नाम देते नहीं हैं तो आपका मुंह दिल की तरह है और उसमें ये जीव सापेल की तरह है वो महिमत काफी तदर्थ प्राण स्थान तदीय था सर्व तदभाव हाँ। देखो एक महात्मा के सामने सांप आया फन करे हुए अरे रे रे रे पहचान गया भाई हाँ। अच्छा वेश बनाया है मौत का रूप धारण करके आए हो मैं समझ गया तुमसे बिछुड़े हुए बहुत दिन हो गए अब तुम मुझे लेने के लिए खुद आए साफ बन गए पहचान गया बाबा पहचान देख मौत का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे ना मृत्यु का रूप धारण करके तुकाराम ने भूत देखा बोले तुम हो पहचान गया नामदेव ने कुत्ता देखा बोले तुम हो पहचान गया है सर्वभूतेषु पुंसो भाव तो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंती श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कुछ भी हो कोई भी भूत हो कीड़ा हो पतंगा हो चिड़िया हो पशु हो पक्षी हो अच्छा हो बुरा हो देखो भगवान भगवान भगवान यदि ये भावना तुम्हारे दिल में टिक जाए तो चार बात तुम्हारे जीवन में आ जाएगी एक तो किसी से होड़ नहीं करोगे स्पर्धा ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है मेरा क्या मन का रूप है जब पैदल चलते हैं और कोई मोटर आती है पीछे से मोटर आ गई आगे से मोटर आ गई तो मन में आता है कि ये बेशहूर लोग मोटर चलाना नहीं जानते हैं और घुमा उगलते हुए धूल उड़ाते हुए पौ पौ करते हुए है ना हमको तकलीफ दे रहा है ऐसा लगता है और जब हम मोटर से चलते हैं तब तब लगता है कि पैदल चलने वाले बिल्कुल बेवकूफ हैं इनको इतना भी सहूर नहीं है कि रास्ता छोड़ के चले देखो ये तो मन की दशा है तो किसी से स्पर्धा नहीं करना किसी के गुण में दोष नहीं निकालना किसी का तिरस्कार नहीं करना और अपने में अहंकार नहीं लेना ये सर्व तदभाव सर्व तद्भाव का रूप है वो परिणत रूप है परिणत रूप है हाँ। और पहचान लो ना बाबा एक दसवीं बात प्रातिकूल्य नहीं है माने ईश्वर जो कुछ कर रहा है जो कुछ सोच रहा है जो कुछ उसके संकल्प से हो रहा है वही हो रहा है जिस किनारे पर ईश्वर उस किनारे पर हम ये नहीं कि उसका किनारा दूसरा हमारा किनारा दूसरा ऐसा नहीं हो तापस माला में एक तापस माला नाम की पुस्तक है बंगला में तो हमने देखी दूसरी भाषा में देखी नहीं पुस्तक का नाम है तापस उसमें लिखा है कि एक महात्मा नाव में कहीं यात्रा कर रहे हैं नदी पार कर रहे हैं तो नदी में चलते चलते नाव में छेद हो गए छेद हो गया और पानी भरने लगे तो मल्ला बेचारे घबराए अब वो महाराज बार बार पानी उलीचे हैं पानी उलीचे हैं पानी उलीचे हैं और महात्मा ने क्या किया कि अपने कमंडलू से नदी में से पानी भरा और नाव में डाल दिया भरा और डाल दिया थोड़ी देर के बाद मल्लाहों ने पानी को काबू में कर लिया पानी उलीच दिया खेत को बंद करने में कपड़ा अपड़ा ठूस के बंद कर दिया पानी निकाला जब पानी निकलने लगा ना मैंने वो कम होने लगा तब महात्मा जी नाव में से पानी निकाल के बाहर फेंकने लगे मल्लाओं ने पूछा कि गुरु जी क्या करते हो पहले पानी भरने लगे नाव में अब पानी निकालने लगे बोले बाबा देखो हम नौकर न अपने हैं न किसी आदमी के जब वो पानी भर रहा था तो हम पानी भर के उसकी मदद कर रहे थे जब वो पानी निकाल रहा था तो हम पानी निकाल के उसकी मदद कर रहे थे कि यहाँ यो भी वाह वाह है, यहाँ यो भी वाह वाह है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है और हमारी भगवान की राय से राय मिली है उससे कहीं मतभेद नहीं है वो जो कुछ करता है उसमें हम गलती नहीं निकालते हैं वो उसमें गलती नहीं निकालते आप देखो भक्त का जीवन अप्रातिकूल्य इसको बोलते हैं अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम जो करता है हमारा प्यारा जो करता है हरिदास जी महाराज गाते हैं वृंदावन में हरिदास जी का नाम आपने सुना होगा क्योंकि तानसेन के वो गुरु थे वो संगीत विद्या के परमाचार्य उन्होंने वृंदावनी सारंग और कितनी राग कितनी राग राग ने उनके निकाले हुए तो गाते थे ज्यो ही ज्यो ही रखियत हो त्यों ही त्यों ही रहियत हो हे हरि हाँ। हरिवंश जी गाते हैं